जाना कम और खम को जो तो ब्रह्म कहा वो नहीं जानता क्या है कम क्या है खम ऐसा कहा तब अग्नियों ने कहा व कम व खम व खम व कम जो कम है वही खम है जो खम है वही कम है ऐसा अग्नियों ने कहा तो श्रुति कहते है हमारे लिए अग्नियों ने क्या कहा होगा उस ब्रह्मचारी का प्राण चाह अस्मय तद आकाशम सोचो प्राण और उसका आश्रय आकाश हार्दाकाश शिशु का कम ब्रह्म कम ब्रह्म शब्द से हार्दाकाश को कहा स्मृति हमारे लिए बोलती है प्राणम चाह अस्मय अस्मय आया प्राणम च तद आकाशम च ऊंचू प्राण और उसका आश्रय आकाश इसी को बताया ऐसा कहा था भाष्य थोड़ा हो गया था टीका के साथ प्राणो ब्रह्म भगवदीर उक्तम तद अहम बीजाना संबंध आप लोगों ने जो कहा प्राणो ब्रह्मा जो कहा तद अहम बीजाना उसको मैं जानता हूं ऐसा संबंध बनाना भाष्य में बताया एक नंबर टिप्पणी कहा यहां प्राणो ब्रह्म यद भगवदभिर उत्तम ऐसा यद पद जोड़ के अर्थ करना कहा जो आप लोगों ने जो कहा उसको मैं जानता हूं तत्र हेतु महा उसमें हेतु क्या बताया प्रसिद्ध पदार्थ गत्वाद प्राण जो है ना प्रसिद्ध पदार्थ है सभी जानते हैं जिसके होने पर शरीर होता है जिसके होने पर शरीर नहीं होता ऐसा वस्तु है वो इसलिए ब्रह्म है ये जानता हूं ठीक है वे कहते हैं प्राण पद से प्रसिद्धार्थत्व में को समर्थित है प्राण शब्द जो आया प्राण पद आया है वो प्रसिद्ध अर्थ कैसे उसके समर्थन करते हैं भाष्य में क्या बोलते हैं यशमिन सदी जीवनम जिसके होने पर जीवन होता है जिस प्राण के होने पर और यगा हुआ है जिस प्राण के निकल जाने पर जीवनम न भवती जीवन नहीं होता तस्मिन वायु विशेष लोके हो ऐसे वायु विशेष में माने भौतिक वायु में प्राण शब्द रूढ़ नहीं है आध्यात्मिक वायु में है रूढ़ लोक में रूढ़ है ऐसा कहा अतः भाष्य में कहते हैं अच्छा एवं भूत प्राण शब्द इतिशेष माने लोके रूढ़ो एवं भूता प्राण शब्द ये शेष लगाना भाष्य में कहा इस प्रकार का प्राण शब्द है रूढ़ पदम परामर्शति रूढ़ पद के परामर्श करते हैं एवं भूता करके टीका में एवं भूता प्राण शब्द कहा प्राण शब्द से प्रसिद्धार्थत्व की कुतो ब्रह्मत्व तस्मिन प्रसिद्धम इतिहास क्या एक शंका है कि प्राण शब्द प्रसिद्ध है ठीक है जिसके होने पर शरीर होता है जिसके नहीं हो, नहीं होता है किंतु वो ब्रह्म है कैसे जाना जाए प्राण एक विशेष वस्तु है इतना तक जाना जाता है प्रसिद्ध होने से जिसके रहने पर शरीर रहता है जिसके रहने पर शरीर नहीं रहता ठीक है किंतु ब्रह्मत्व तो कैसे सिद्ध होगा प्राण में ये शंका है प्राण शब्द से पे भी प्राण शब्द प्रसिद्ध अर्थ वाला होने पर भी कुतो ब्रह्मत्व किस हेतु से ब्रह्मत्व की सिद्धि होगी तस्में उस प्राण में प्रसिद्ध ब्रह्मत्व की प्रसिद्धि कैसे शंका करके कहा अतः पांच समय कहा था अतः युक्तम ब्रह्मत्व से है जब ऐसे विशेष वस्तु है तो ब्रह्मत्व होना भी सिद्ध है उसे अतः अतः का अर्थ करते हैं अतः का अर्थ करते हैं टीकाकार कार्यक्रम संघाते नष्ट अग्रहण भाष्य की अपेक्षा टीका में कुछ भिन्न तरह से अर्थ करने जा रहे हैं भाष्य में कहा था जिसके होने पर शरीर चलता है जिसके न होने पर नहीं चलता किंतु टीकाकार कहते हैं कार्यक्रम संघात के नष्ट हो जाने पर अग्रहण प्राण का भी ग्रहण नहीं होता माने शरीर में ही ग्रहण होता है शरीर न होने पर ग्रहण नहीं होता ऐसा टीका का टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्मणा इव अपनी संघाता अच्छे देने में ग्रहणार्थ इत्यर्थ इसका अर्थ है जैसे ब्रह्म का ज्ञान होता है कब शरीर विशिष्ट होकर ही ज्ञान होता अहम खाली अहम होता नहीं शरीर के अभाव में अहम नहीं होता जब भी ब्रह्म का ज्ञान होगा तो अहम शरीर विशिष्ट होकर के होता अहम मनुष्य अहम पुरुष अहम स्त्री आदि अहम यही लगता है जैसा ब्रह्मण जैसे ब्रह्म का होता है प्राण से अभी संघातावच्छेदन संघात विशिष्ट होकर ही ज्ञान होता है टीकाकार के अनुसार ऐसा होता है अने न जब टीका में ऐसा बोल दिया कार्यक्रम संघाते नष्ट अग्रहणात ऐसा कहा तब कहते हैं अने न इस पद के द्वारा क्या समझना यद अपगमित न भवती भाष्य जो भाष्य में कहा था यद अपगमित न भवती कहा था उसके भाष्य को यह अर्थ करना यद प्राण तत्व शरीर अपगमे सती न गृहते जो प्राण वस्तु है शरीर के न रहने पर नहीं ग्रहण नहीं होता यदि व्याख्या तुम यदि प्रतिभाती ऐसे कार्य से व्याख्या समझना चाहिए कहा टीका में आगे कहते हैं स्वकीय ज्ञान समुच्चयार्थ सकार भाष्य में युक्तम ब्रह्मत्व च तस्य में जो चौपद आया उस चौपद का अर्थ किया अपना ज्ञान का समुच्चय करने के लिए अपना ज्ञान यही होता है कि जब जिसके होने पर शरीर होता है जिसके न होने पर नहीं होता है इसलिए अपना ज्ञान भी अनुभव यही बताता है कि प्राण ब्रह्म है सिद्ध होगा बीजाणाम अहम इति उत्तम उपसंहरती ये कहते हैं उपकौशल ने कहा था मैं बीजानामी हम प्राणम कहा था मैं प्राण को जानता हूं कहा था उसका उपसंहार करते हैं समापन करते हैं उसका ते न इत्यादि का इसी हेतु से जिसके होने पर माने शरीर आदि चलते हैं जिसके न पर शरीर आदि रहते इसी कारण से तेन हेतु नाम प्रसिद्ध पदार्थ का स्वाद ये प्राण प्रसिद्ध पदार्थ है होने से बीजा नाम हम ये प्राणो ब्रह्म मैं प्राण को ब्रह्म जानता हूं विशेष रूप से जानता हूं विशेष जानामी बीजा नामी प्राण मैं समझता हूं प्राण ब्रह्म है ठीक है मैं स्वयं अज्ञातम ब्रह्मचारी दर्शाई कम और खम को अपने द्वारा अज्ञात दिखाता है मैं नहीं जानता कम कम चखम चतु कम चतुखम च तो न भी जाना इसका अर्थ है स्वयं अज्ञातम जो दूसरे ब्रह्म कहा था आपने कम च कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा उसको मैं नहीं जानता स्वयं अज्ञातम अपने द्वारा अज्ञात वस्तु जो है कम ब्रह्म खम ब्रह्म उपकोशल के अज्ञात है वो वस्तु ब्रह्मचारिता से दिखाता है क्या दिखाता है कम चतुखम तो खम से न भी जाना नहीं प्राण को तो मैं जानता हूं ब्रह्म है किंतु कम और खम को ब्रह्म है ऐसा मैं नहीं जानता ठीक है तस् अज्ञानम आक्षिपति ब्रह्मचारी को जो अज्ञान है कम और खम के विषय में प्राण को तो ब्रह्म समझता है किंतु कम खम को ब्रह्म नहीं समझता तो तस्य मैंने ब्रह्मचारी ना अज्ञानम आक्षिपति ब्रह्मचारी को क्यों अज्ञान कम भी प्रसिद्ध पदार्थ है जैसे प्राण है कम माने सुख और खम भी प्रसिद्ध है खम माने आकाश प्रसिद्ध पदार्थ है तो क्यों ब्रह्मचारी को इसमें ज्ञान हुआ होगा यह शंका है तस्य अज्ञान आक्षेपति तस्य मैंने ब्रह्मचारी उस ब्रह्मचारी में जो अज्ञान है कम खम के विषय में उसमें आक्षेप करता है पूर्वादी कम खम भी तो प्रसिद्ध पदार्थ है क्यों नहीं जानता ब्रह्मचारी कम खम को ये आक्षेप है नानो करके शंका उठाई नानो कम खम शब्द कम शब्द खम शब्द ये दो शब्द भी ऐसे हैं कि सुखाकाश विषय तो कम शब्द सुख का विषय करता है और खम शब्द आकाश का विषय करता है खम मने आकाश कम मने सुख प्रसिद्ध है प्रसिद्ध पदार्थ तत्व एवं ये भी तो प्रसिद्ध पदार्थ है यह ब्रह्मचारी को क्यों अज्ञान हुआ इस इनके विषय में कस्मात ब्रह्मचारी अज्ञानम क्यों अज्ञान हुआ ये दो के विषय में कम कम के विषय में जैसे प्राण प्रसिद्ध पदार्थ है जिसके होने पर शरीर होता है जिसके होने पर नहीं होता इसलिए ब्रह्मचार्य ने उसको प्रवेश मान लिया इसी प्रकार कम खम भी तो प्रसिद्ध है कम माने सुख खम माने आकाश तो ब्रह्मचारी को क्यों अज्ञान इस विषय में ये शंका आई तो उत्तर देते हैं है आपने देखें प्राण शब्द से वायु विशेष विषय प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थत्वत इति अपे अर्थ यहाँ कम खम और अपि में जो अपी शब्द आया इस अपि का अर्थ होगा जैसे प्राण शब्द वायु विशेष को विषय में प्रसिद्ध है वायु विशेष में प्रसिद्ध है इसी प्रकार कम खम भी विशेष है सुख विशेष में एक है आकाश में एक है प्रसिद्ध है ये अपी का अर्थ है भाष्य में जो अपी आया था कम खम शब्दयोर व्यापी का अर्थ ही होता है माने जैसे प्रसिद्ध है वैसे वो भी प्रसिद्ध है ब्रह्मचारियों अभिप्राय दर्शन उत्तर वहा ब्रह्मचारी का अभिप्राय दिखाते हुए उत्तर देते हैं सिद्धांत ब्रह्मचारी का अभिप्राय है अभिप्राय क्या है कम माने खाली कम ब्रह्म इतना बोलते क्षणिक सुख की तरफ बुद्धि चली जाती है खम कहने पर आकाश की तरफ चली जाती भूताकाश की तरफ चली जाती वो तो ब्रह्म नहीं हो सकता ना यही कहना चाहते हैं नम भाष्य में कहा नूनम मान अवश्य ही सुख से कम शब्द वाच्य से क्षण प्रथम सिद्धवा सुख माने होता है कम माने सुख होता है कम शब्द का वाच्य सुख वह प्रत्यक्षण ध्वंस वाला है सुख तुरंत नष्ट होने वाला है ऐसा सुख है तो खम शब्द से खम शब्द वाच्य से आकाश से खम शब्द का वाच्य जो आकाश है उसका अचेतन से कथम ब्रह्मत्व इति मंडते ब्रह्मचारी मानता कैसे ब्रह्म हो सकता है कम शब्द क्षण प्रध्वंसी सुख में प्रयोग होता है खम शब्द एक अचेतन आकाश में प्रयोग होता है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है ब्रह्मचारी की इसलिए शंका है कम सम कम सम शब्द ठीक है ननु विरुद्धार्थत्वाद अग्नि अग्निनाम वाक्यम भगवत अप्रमाण इतिहास है पूर्ववादी शंका करता है विरुद्ध अर्थ बता रहे कम खम कभी ब्रह्म नहीं हो सकता कम माने क्षणिक सुख खम माने भूताकाश ब्रह्म नहीं हो सकता उसको ब्रह्म बता दिया अग्नि ने कम ब्रह्म खम ब्रह्म कह दिया विरुद्ध अर्थ को बता रहे अग्नि इसलिए अप्रमाणिक होगा वाक्य शंका है नो नो विरुद्धार्थत्वाद अग्नि नाम वाक्यम भगवत अप्रमाण विरुद्धार्थ बता रहे हैं ब्रह्म नहीं है जो भौतिक सुख और भूताकाश को ब्रह्म बोल रहे हैं अग्नि विरुद्ध अर्थ का कथन करने से अग्नि का वाक्य जो होगा विरुद्धार्थत्वाद अग्नि नाम वाक्यम भगवत प्रमाण अग्नि का वाक्य अप्रमाण हो ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं कथम च हाँ। कथम च भगवताम वाक्यम अप्रमाण सात आप लोगों का वाक्य कैसे अप्रमाण होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कम ब्रह्म कम ब्रह्म क्या है मेरी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है आपका वाक्य अप्रमाण तो नहीं हो सकता ये ब्रह्मचारी का कथन है कथम च भगवताम वाक्य अप्रमाण सात आप महापुरुषों का वाक्य कैसे अप्रमाण होगा ठीक है विरुद्धार्थत्व प्रतीतेर आप्तवाक्य से अप्रामाण्य हो गया दोनों बातों ब्रह्मचारी के सामने है कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहते समय में कम माने क्षणिक सुख में कम शब्द का प्रयोग हो रहा है और खम ब्रह्म मन भूताकाश में प्रयोग हो रहा है खम शब्द विरुद्धार्थ विरुद्ध अर्थ का प्रतीत हो रही है शब्द से ऐसा हो रहा है विरुद्ध अर्थ का प्रतीति हो रही है और आप्तवाक्य में अप्रामाण्य होना संभव भी नहीं है आप्तवाक्य है ये महापुरुष है जो उपदेश दे रहे हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहने वाले सामान्य ऊपर से देखने से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति हो रही है और आप्तवाक्य होने से अप्रामाण मानना भी संभव नहीं इसलिए उसको संदेह हो रहा ब्रह्मचारी को ये कहते हैं विरुद्धार्थक तो प्रतीत है ऊपर ऊपर से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति हो रही है कम माने क्षणिक सुख कम माने भूताकाश ऐसा प्रतीति हो रही है विरुद्ध अर्थ का प्रतीति ब्रह्म नहीं हो सकता जो और आप्तवाक्य से जो तो अप्रामाण्य होगा जो आप्त पुरुष का वाक्य होगा अप्रमाण नहीं हो सकता इसलिए युक्तम ब्रह्मचारी अज्ञान इसलिए ब्रह्मचारी में अज्ञान होना ठीक है इति निगमयती इसको समापन करते हैं हाँ। अतो न बीजानामी अहम न बीजाना बीजानामी कम च खम च कम च तो खम से न बीजाना कम खम को मैं नहीं जानता ऐसे ब्रह्मचार्य ने कहा ठीक है हमें आगे कहते हैं खस्य विशेषत्व कश्य विशेषत्व कार्य फल आगे भाष्य है पहले तम एतम उक्तवंतम ब्रह्मचारिणम देह अग्नय ऊचु इस प्रकार से जब बीजानामी यह प्राणो कम कमचा तो खमच न ब्रह्मचारी ऐसा स्वर बोल दिया हाँ, जो आपने कहा था प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा था आप लोगों ने प्राण ब्रह्म है तो मैं समझ जाता हूँ जानता हूँ इसको तो प्रसिद्ध पदार्थ है और कमच तो खमच न जाना कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो बोला मैं समझा नहीं ऐसा कहा था तेवं ए, तम एवं उतवंतम ब्रह्मचारिणम इस प्रकार कहने वाले कम और खम को नहीं जानता हूं करके कहने वाला जो ब्रह्मचारी है उपकोषण उसको ते अग्नय उसे उन अग्नियों ने कहा ते कहा यदबाव हम्म, कम तदेव खम ऐसा बोलना चाहते हैं मंत्र में ऐसे यदबाव कम तदेव खम और यदेव खम तदेव कम मंत्र ऐसा ही है वही उसी का अर्थ करते हैं यदभाव माने यदेव या का अर्थ यदेव ही है वो यदभाव माने यदेव वयम कम अवोचाम जिसको हमने कम करके कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म में जिसको हमने कम शब्द से कहा यदभाव कम माने यदेव वयम कम अवोचाम जिसको हम लोगों ने कम शब्द से कहा तदेव खम वही खम है कम और खम में भेद नहीं माने सुख विशिष्ट आकाश हमने कहा ये कहना चाहते हैं भूताकाश नहीं सुख विशेषण उस आकाश का विशेषण सुख है सुख विशिष्ट आकाश आकाश इसको हम कहना चाहते हैं ये अर्थ है माने विशेषण बनाना है खम कम को विशेषण खम को विशेष्य जैसे नीलोत्पलम कहेंगे तो जो नील विशेषण उत्पल में लग जाता है तो क्या कहता है रक्तादि उत्पल से उसको पृथक कर देता है यहां भी खम में जब कम विशेषण लग गया तो क्या करेगा भूताकाश से पृथक कर देगा सुखरूप आकाश भूताकाश तो सुखरूप नहीं है जैसे नील उत्पल का जो विशेषण हो जाता है नील नील विशेषण अपने विशेष को अलग करे किससे सजाति से सजाति जो अन्य उत्पल थे उसे भिन्न कर देता तो यहां भी जब कम विशेषण लग जाता है खम का तो अब भूताकाश से पृथक कर देगा इस आकाश क्यों सुखरूप आकाश यह अर्थ आ जाएगा ये कहा यदभाव माने एरेब वयम कम अबोचाम हमने जिसको कम कहा विशेष बनाया तदेव खम वही खम है आकाशम इतम विशेष मान कम खे के द्वारा विशिष्ट हुआ जो कम है ख से अलग करेंगे कम को ख लगाएंगे कम में तो परिचिन्न सुख नहीं आएगा व्यापक सुख आ जाएगा ख जब विशेषण बना देंगे आकाश व्यापक होता है तो व्यापक सुख ऐसा अर्थ आ जाएगा ख के द्वारा विशिष्ट जो आकाश के द्वारा विशिष्ट सुख होगा वो सुख क्षणिक सुख नहीं होगा क्षण प्रध्वंसी सुख नहीं होगा व्यापक सुख हो जाएगा एक हम एक यदवाब मैंने यदि वयम कम अवचाम जिसको हमने कम शब्द से कहा था तदेव खम माने ख को बनाना विशेषण और कम को बनाना विशेष्य अभी सुख को व्यावृत्ति करना अन्य सुख से व्यावृत्ति करना माने वैश्विक सुख से व्यावृत्ति करने के लिए क्या कहा वैश्विक सुख क्षण प्रध्वंसी होते हैं और यह सुख कैसा है व्यापक है आकाश को विशेषण बनाना है कहा इतम खेद विशेषवाण कम ख विशेषण लगाया हुआ है ख बने आकाश उसको विशेषण बना दिया जो कम है रहा है विषेन्द्रिय संयोग संयोग जात सुखात निवर्तित विषय वो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख है उससे निवर्तित होगा अलग हो जाएगा ये तो क्षण प्रध्वंसी होते हैं विषय और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले सुख क्षण प्रध्वंसी होते हैं किंतु ये सुख आकाश जब विशेषण बन जाएगा सुख का तो ये क्षण प्रध्वंसी सुख से अलग हो जाएगा ये कहा अच्छा, नीले इव मानम उत्पलम रखता आदि ये विषय दृष्टांत दिया जैसे उत्पल अनेक प्रकार के उत्पल उत्पल मैंने कमल अनेक प्रकार के होते हैं नील भी होता है रक्त भी होता है पीत भी होता है श्वेत भी होता है कई प्रकार के कमल होते हैं कमल कई प्रकार के तो नील जब विशेषण चढ़ा देंगे कमल में तो उस कमल को अन्य कमलों से पृथक कर देगा कौन नील विशेषण इसी प्रकार ख विशेषण जब लग गया किसमें क में कम माने सुख उसका विशेषण खम लग गया लगने पर क्या होगा व्यापक सुख अर्थ कर देगा तो अन्य सुख से उसकी व्यावृत्ति कर देगा अन्य सुख क्या है भौतिक सुख दो ही सुख है तो भौतिक सुख से पृथक करेगा ये कहा जैसे नील विशेषण के द्वारा जब उत्पल में नील विशेषण लग जाता है तो अन्य कमल उत्पल से उसको भिन्न कर देता है रक्त आदि से भिन्न करता है एक दृष्टांत नीलेगा एवं विशेष मानव उत्पलम रक्तादिभ्य निवर्तित हो जाता है जैसे नील विशेषण नील विशेषण वाला जो फल होगा वह रक्त आदि से अलग हो जाता है ठीक इसी प्रकार ख विशेषण वाला जो क होगा तो आकाश विशेषण जिस सुख का लगा हुआ हो वो सुख वैश्विक सुख से अलग हो जाएगा यह अर्थ आ जाएगा कहा और दूसरी बार कहा था यदि वकम तदे वकम ऐसा बोला था दूसरे और कम को विशेषण बनाना खम को विशेष बनाना की बात यदेव खम माने विशेष है ख माने ख मैंने आकाशम यदि ओचाम यदेव खम का अर्थ आकाशम यदि ओचाम जिसको हमने आकाश कहा था खम कहा था तदेव कम वही सुख है सुखम वही सुख है जानी ही ऐसा जानो कहा एवं च इस प्रकार करने से क्या होगा सुखे न विशेष नाम खम जो सुख विशिष्ट ख होगा कैसा ख लेना भूत आकाश से निवृत्ति हो जाएगी उसकी भूताकाश में सुख नहीं है यह आकाश कैसा है सुख विशिष्ट है जैसे नील विशिष्ट कमल अन्य कमल से अतिरिक्त हो जाता है यहाँ दो आकाश है एक रूप आकाश है भूताकाश है तो इस आत्मरूप आकाश को अलग करने के लिए शुभ विशेषण लगा दिया ये कहा एवं सुखे न विशेषण खम सुख विशेषण के द्वारा जो विशिष्ट किया गया ख है भौतिकात अचेता अचेतनात् खा निवर्तितम श्याम भौतिक जो अचेतन अचेतन खा खा है कौन ये भूताकाश उससे निवर्तित हो जाएगा पृथक हो जाएगा दृष्टांत वही है नीलोत्पलवत एवं जैसे नील विशेषण लग जाने से उत्पल अलग हो जाता है किसी अन्य उत्पलों से रक्त आदि उत्पल से नील विशेषण लगने से एक विशेष उत्पल अलग हो जाता है पृथक हो जाता है इसी प्रकार जब सुख विशेषण लगा देंगे आकाश को आकाश में तो आकाश भौतिक आकाश से अलग हो जाएगा ये कहा सुखम आकाशस्थम नेतरत्थ सुख कैसा कौन सा सुख लेना आकाश में स्थित सुख लेना कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो कहा उसके आराम से हो जाता है सुख कौन सा सुख लेना आकाश में स्थित सुख लेना माने व्यापक सुख क्या अर्थ आएगा नेतर दूसरा सुख नहीं क्षण प्रध्वंसी सुख नहीं विषय और इंद्रिय के संबंध से जो सुख होता है क्षण प्रध्वंसी होता है तीन घंटा लगा करके आप भोजन बनाते हैं जैसे गले में जीववा में रहते रहते थोड़ा स्वाद मिला उसके बाद समाप्त हो गया सुख सुख तो जीववा को ही मिला ना थोड़ा बाकी समाप्त हो गया सुख विषय और इंद्रिय जन्य संबंध से होने वाले सुख ऐसे सुख है क्षण प्रदोष से तो तुरंत नष्ट हो जाता है तीन चार घंटे लगा के भोजन बनाया था जीवा के अग्रभाग में स्वाद मिला पीछे जाते जाते सुख समाप्त स्थिति तो सुखम आकाश अस्तम से ही हुआ सुख कैसा सुख लेना आकाश में स्थित सुख लेना वैसे सुख नहीं लेना है कम का अर्थ ऐसा सुख और खम का अर्थ क्या लेना यथावत लौकिक लौकिक सुख नहीं लेना और आकाशम सा आकाश कैसे ही खम का अर्थ आकाश हो सुखाश्रय सुख का आश्रय आकाश लेना कैसा आश्रय यह आकाश सुखाश्रय नहीं है ये भूताकाश सुख जहां रहता है ऐसा आकाश कौन हार्द आकाश ऐसा लेना ये तरह भौतिकम तो आकाश भी भौतिक आकाश नहीं लेना सुखाश्रय आकाश को लेना कहा आगे शंका होती है नो आकाशम चेत सुखे न विशेषितम इष्टम आकाश को सुख विशेषण के द्वारा उसको अलग करना यदि इष्ट है आकाश को सुख विशेषण लगा करके ये हार्दाकाश को भूताकाश से अलग करना यदि आपको इष्ट है नो आकाशम चेत सुखे न विशेष है इष्टम आकाश को सुख विशेषण के द्वारा विशेष बनाना अलग करना पृथक करना इष्ट है तो अस्तु अन्य तरदय विशेषण तब तो एक ही विशेषण से काम चलता है दोनों में से कोई भी एक विशेषण चढ़ा दो दो का दो का क्यों विशेषण यदे तदेवकम यदेवकम तदेवकम करके दो बार दोनों को विशेषण दोनों का विशेष क्यों बनाना एक को विशेषण करने से पृथक हो जाएगा ये पूर्वादि की शंका है जब आकाश सुख के द्वारा विशेष करना है सुख विशिष्ट आकाश तो आत्माकाश ही होगा भूताकाश हो नहीं सकता है फिर भूताकाश से सुख सुख को अलग क्यों करना फिर तातासु विशेषण क्यों बनाना दो में से कोई एक विशेषण बनाने से काम चलेगा दोनों को विशेष दोनों को विशेषण करना कोई आवश्यकता नहीं है ये शंका है नो आकाशम से सुखे न विशेष सहितम इष्टम जब आकाश को सुख विशेषण के द्वारा विशेष बनाना इष्ट है माने सुख विशिष्ट आकाश लेना इष्ट है आपको तो अस्तु अन्य तरह विशेषण दोनों में से कोई भी एक विशेषण चढ़ाओ आप दोनों तरफ विशेषण मत करो या तो आकाश को विशेषण बनाओ या सुख को विशेषण बनाओ यदभाव कम तदेव कम इतना ही बोलो जो कम है वही कम है इतना ही बोलो अथवा हाँ, अतिरिक्तम इतर दूसरा विशेषण व्यर्थ हो जाएगा एक ही से काम चलेगा मैंने सुख विशिष्ट आकाश जब लेना इष्ट है तो एदेवकम तदेवकम इतने से काम चल जाएगा फिर आगे अतिरिक्तम इतर दूसरा जो यदभाव कम तदेव कम ये बोलना आवश्यकता नहीं है अतिरिक्त अथवा वैसा करके बोलो यदेव कम तदेव कम ऐसा करके बोलो एक ही बोलो जो खम है वही कम है बोल दो फिर यदभाव कम तदभाव तदेव कम बोलने की आवश्यकता नहीं यदेव यदेव खम तदेव कम यदि पूर्व विशेषण हो पहले वाला विशेषण बोलो जो खम है वही कम है इतना बोल दो फिर यदेव कम तदेव कम यदभाव कम तदभाव तदेव कम मत बोलो एक ही विशेषण से काम चलेगा जो सुख विशेषण आकाश तो आत्माकाश ही है तो अन्य हो नहीं सकता तो एक ही विशेषण से काम चलता दो दो क्यों लगाया फिर ये पूर्वाजी की शंका हुई तो सिद्धांत कहते हैं ननु सुखाकाशयोर उभयोरअपी लौकिक सुखाकाशाभ्याम व्यावृत्ति रिष्टा इति पूछा सिद्धांत का देखो भाई हमने पहले बता दिया सुख और आकाश दोनों कैसा लेना लौकिक सुख से भी व्यावृत्ति करना है लौकिक आकाश से भी व्यावृत्ति करना है इसलिए दोनों के दोनों विशेषण बनाना पड़ेगा आकाश कैसा लेना सुखरूप आकाश लेना सुख कैसा लेना व्यापक आकाश रूप सुख लेना हम ऐसा कहना चाहते हैं जब सुख के तरफ देखेंगे तो आकाश को विशेषण बनाना वो आकाश व्यापक आकाश हो जाएगा तो सुख व्यावृत होगा विशेष सुख से और माने आकाश को व्यावृत्ति करना हो तो क्या करना सुख विशेषण लगाना सुख विशिष्ट आकाश कहने से भौतिक आकाश से अलग होगा हमने पहले कहा था ये बात ये सिद्धांत का है ननो ये सिद्धांत के ननो है सुखाकाश है उर्वर सुख और आकाश दोनों के दोनों का दोनों लौकिक सुखाभ्याम व्यावृत्ति इष्ट दोनों को लौकिक सुख लौकिक आकाश से व्यावृत्ति करना इष्ट है इसलिए दोनों को विशेषण बनाना दोनों को विशेष बनाना यह हमने पहले कहा इति अभोचामा हमने पहले बोल दिया है बात ये सिद्धांत ने कहा टीका से देखें कश्य विशेषणत्व कश्य विशेषत्व यदि अंगीकार है फलम कथाएगी माने आकाश को विशेषण बनाना और सुख को विशेष्य बनाना जब माने सुख कैसा लेना तो कहा आकाश जैसा सुख ख को विशेषण बनाना ऐसा खस्य खस्य विशेषणत्व माने आकाश को विशेषण बनाना व्यापक और कश्य विशेषत्व क को विशेष्य बनाना माने सुख कैसा हो आकाश व्यापक व्यापक सुख ऐसा कर यदि अंगीकार है ऐसा स्वीकार करने पर क्या फल होगा उसको कथन करते इतम भाष्य में कहा था इतम खेन विशेषमाण कम जब ख को विशेषण चढ़ाया हुआ क होगा ख जिसमें विशेषण बना होगा जिस क में सुख सुख में आकाश विशेषण बना होगा वो वो सुख कैसा होगा विषय इंद्रिय संयोग संयोग जात सुखात निवर्तित विषय इंद्रिय संबंध से होने वाला जो सुख होगा उस सुख से निवृत्ति होगी उसकी क्योंकि वो व्यापक सुख नहीं है विषय इंद्रिय जन्य सुख व्यापक नहीं है और यहां पर सुख का विशेषण आकाश दिया है यह अर्थ आएगा जैसे नीलेर एवं विशेषमाणम उत्पलम रक्तादि कहा जैसे नील विशेषण जब उत्पल का लगा देते हैं उस स्थिति में क्या होगा रक्त आदि से रक्त आदि उत्पल से पृथक हो जाता है वो इसी प्रकार या ख विशेषण जब कम का लगा देंगे खम विशेषण कम का लगाएंगे वो कम जो होगा वो माने विषय इंद्रिय जो जन्य जो कम है सुख है उससे व्यापृत हो जाएगा अलग हो जाएगा व्याप्त आएगा ये बताए ठीक है कश्य विशेषणत्म खस्य विशेषत्व इतम अभी ये भी फिर दूसरे पक्ष में क्या आएगा क को विशेषण बनाना ख को विशेष बनाना ये किसके लिए होगा भौतिक आकाश से व्यावृत्ति करने के लिए आकाश कैसा आकाश लेना सुखरूप आकाश लेना सुखाश्रय आकाश लेना हाँ ये भौतिक आकाश को व्यावृत्ति करने के लिए ये विशेषण होगा ये कहा कश्य विशेषणत्व क को विशेषण बना और खस्य विशेषत्व ख को विशेष बनाना इसमें इतवती विशेषण विशेषत्व अवगत ये विशेषण विशेष ही है जहाँ एक यदेव इत्यादि भाषण कहा था यदेव खम यदि आकाशम अवोचा मत तदेव कम जो हमने आकाश कहा खम कहा वो कम है मैंने कम सुखम इति यानी ही कहा यथोक्त विशेषण विशेष भाव में फलवा जब दोनों को विशेषण बनाएंगे दोनों को विशेष बनाएंगे मान एक एक ही व्यावृत्ति में आकाश को भूताकाश से व्यावृत्ति करने के लिए कम विशेषण और भौतिक सुख से आत्म सुख को व्यावृत्ति करने आत्मरूप सुख को व्यावृत्ति करने के लिए खम विशेषण सुख कैसे लेना व्यापक आकाश कैसे लेना सुखरूप ऐसा दोनों विशेषण होगा दोनों विशेष होंगे ठीक है एवं यथोक्त विशेषण विशेष भावे फल महा जब ये दोनों के दोनों विशेषण बनते हैं और विशेष भी होते हैं इसका फल बताते हैं एवं च इत्यादि भाषण का एवं च सुखे न विशेषमाण खम जब सुख विशिष्ट ख होगा तो उस ख किसके व्यावृत्ति करेगा भौतिक आकाश से व्यावृत्ति हो जाएगा क्यों भौतिक आकाश सुख विशिष्ट नहीं है उसे व्यावृत्ति हो जाएगा जब सुख विशेषण बनाएंगे ख को विशेष बनाएंगे तो भौतिक आकाश से उसकी पृथकता हो जाएगी आकाश की एवं च सुखे न विशेषमाणम खम भौतिकात अचेतनात् खात निवर्तित तो सुख के विशेषण लगा सुख के सुख विशिष्ट जो आकाश होगा भौतिक आकाश ख जो होगा वो भौतिक आकाश जो अचेतन आकाश है खात मैंने आकाशात निवर्तित में निवृत्ति हो जाएगा जैसे दृष्टांत है नीलोत्पल जैसे नील उत्पल उत्पल का विशेषण जब नील लगा देंगे तो क्या होगा रक्तारी उत्पल से वो अलग हो जाएगा वो उत्पल अलग हो जाएगा ठीक इस प्रकार भी सुख विशिष्ट आकाश कहने पर भौतिक आकाश से अलग हो जाएगा ये फल होगा कहा ठीक है यदभाव इत्यादि वाक्यार्थम उत्तम एवं प्रतिपत्ति सौकर्तर्थम संसिमति यदभावकम तदेव खम यदेव खम तदेव कम करके जो कहा था यदभाव इत्यादि जो वाक्यार्थ था पहले कहा इसका अर्थ बता दिया उत्तम एवं जो कहा उसी को ही प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम समझो ज्ञान कि सुकर्ता के लिए अनायास ज्ञान हो आराम से ज्ञान हो और एक बार संक्षेप करके बोलते हैं क्या संक्षेप करते हैं तो सुखम आकाशस्थम संक्षेप यही अर्थ है यदवावकम तदेवकम यदेवकम तदेवकम का संक्षेपित अर्थ ये होता है सुखम आकाश सुख कैसा लेना आकाशस्थ कम कैसा कम लेना आकाशस्थ आकाश में रहने वाला सुख ऐसा सुख क्षणिक सुख नहीं विषय इंद्रजन्य सुख नहीं सुख ऐसा सुख और ये तरह लौकिक लौकिक सुख नहीं आकाशम से आकाश कैसे लेना सुखाश्रय आकाश लेना सुख का आश्रय आकाश माने न इधर भौतिकम भौतिक आकाश नहीं लेना यही अर्थ आएगा संक्षेप में यदावकम तदेवकम यदेवकम तदेवकम इत्यादि वाक्य का यही अर्थ संक्षेप में होता है यही अर्थ आया सुख कैसा होगा आकाश में स्थित लौकिक सुख नहीं आकाश कैसे लेना तो कहा सुखाश्रय भौतिक आकाश नहीं यही अर्थ है सामान्य यही है कहा ठीक है इतर इतर विशेषण विशेषत्व आक्षिपति दोनों को विशेषण बनाना दोनों के विशेष बनाना आवश्यकता नहीं है आक्षेप कर एक विशेषण से काम चलेगा दो लगाने की आवश्यकता नहीं है ये पूर्वादि शंका करना चाह रहा है मैंने सिद्धांत का तात्पर्य था कि कम विशेषण लगे भौतिक आकाश से हमको अलग करने के लिए और खम विशेषण लगे है भौतिक सुख से उस कम को अलग करने के लिए ये सिद्धांत में है किंतु पूर्वादि शंका करने जा रहा है वो इतर इतर विशेषण विशेषत्व आक्षिपति एक दूसरे का विशेषण बनाना कम और खम को और एक दूसरे का विशेष भी बनाना कम खम को तो इसके ऊपर में आक्षेप करता है पूर्वादि एक जब ऐसी स्थिति है एक ही विशेषण से काम चलेगा दोनों को क्यों विशेषण बना कभी कम को बना रहे कभी खम को बना रहे विशेषण और विशेष भी कभी कम को कभी खम को एक ही से काम चलेगा पूर्ववादी की शंका कैसे ननु करके शंका उठाई ननु आकाशम चेत सुखे न विशेष है तुम इष्टम आकाश को यदि सुख से विशिष्ट बनाना है आपने ये इष्ट है यदि ये वाक्य का तात्पर्य है आकाश कैसा आकाश सुख विशिष्ट आकाश लेना है तो इष्टम अस्तु अन्य तरह से तब दो में से कोई एक विशेषण काम चल जाएगा चाहे यदवावकम तदेवकम बोलो या यदेवकम तदेवकम बोलो दोनों बोलने की आवश्यकता नहीं काम चलेगा माने कैसा बोलना यदावकम कम तदेव कम यदि ऐसा बोलो जो कम है वही कम है कितना कम से काम चलेगा अतिरिक्तम इतर दूसरा अतिरिक्त हो जाएगा कौन अतिरिक्त कौन है यदे वकम तदेव कम ये अतिरिक्त है वो अतिरिक्त व्यर्थ हो जाएगा वो एक टीका से देखें अन्य तरत एवं इत्यत्र भाष्य में अन्य तरत एवं विशेषण कहा था जब आपको सुख से विशिष्ट आकाश को बनाना है तो दो में से कोई एक विशेषण ले लो आप तो कहा अन्य तरदेव इत्यत्र यदेवखम इत्यत्र उच्चते तो अन्य तरह का अर्थ क्या लेना यदेवखम तदेव खम ये वाला व्यर्थ पड़ जाएगा यदभावकम तदेवखम इत्यत्र यदभावकम इति इतर विशेषण अतिरिक्तम और यदभावकम तदेवखम इसमें आया हुआ में क्या लेंगे यदभावकम इति इतर विशेषण ये विशेषण व्यर्थ बढ़ जाएगा एक सार्थक करेंगे दूसरा व्यर्थ होगा अतिरिकम अधिकम अतिजित कर्म ही देगा अधिक है यदि तू यदेवकम तदेवकम बोलना चाहोगे आप दूसरा वाला वाक्य लोगे उस स्थिति में क्या होगा खेल कम विशिष्य दे ख को विशेषण बना करके क को विशेष बनाओगे जब आप क कैसे लेना है व्यापक का यह अर्थ लेना हो तदा यदेव खम इति एतदेव विशेषण वस्तु फिर यही है कि विशेषण है यदेवकम तदेवकम इतना ही हो विशेषण यदेवकम इतना ही हो यदभावकम ये जो पूर्व विशेषण होगा यदभावकम तदेव खम करके जो कहा विशेषण पूर्व विशेषण अकृत कर्म पहले वाला विशेषण व्यर्थ हो जाएगा ये पूर्वादि कहा यदेव इत्यादि कहा यदेवकम तदेवकम इति पूर्व विशेषण बा दो में से एक विशेषण व्यर्थ होगा ये पूर्वादि का कहा तो सिद्धांत कहेंगे टीका से देखेंगे बा शब्द अतिरिक्तम इति ये तद अनुकर्षणार्थ ये जो बा है पूर्व में जो अतिरिक्तम इतरत कहा था पूर्व पंक्ति में उसको अनुकर्षण करने के लिए बा बोला इस पंक्ति ने कहा बा शब्द ने दिया पूर्व विशेषण बाबा ने अतिरिक्तम इतरत जो कहा था उसको अनुकर्षण उसको लाने के लिए कहा सिद्धांत बोलते हैं विशेषण और अर्थवत्व पूर्वोत्तम सिद्धांत थे दोनों विशेषणों का अर्थवत्व तो पहले बताया था सिद्धांत ने उसको याद दिलाते हैं अरे बाबा हमें केवल ख को क विशेषण लगा करके केवल आकाश को पृथक करना है अविष्ट नहीं यहां क को भी पृथक करना है इसलिए आकाश को भी विशेषण बनाना पड़ेगा जो भौतिक सुख से भी अलग करना है भूताकाश से भी अलग करना है इसलिए दोनों को विशेषण बनाना आवश्यक है ये सिद्धांत बोला पहले कहा था उसी को याद दिलाते हैं क्योंकि सुख कैसे लेना व्यापक खम और ख कैसे देना कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ है तो सुख रूप खम सुखाश्रय खम लेना यह अर्थ लेना है इसलिए दोनों को विशेषण बनाना पड़ेगा ये पहले कहा था उसी को याद दिलाते हैं सिद्धांत एक विशेषण से काम नहीं चलेगा ये सिद्धांत याद दिलाते हैं ननु करके गनु सुखाकाशयोर भी सुख और आकाश दोनों को सुख को भी विशेषण आकाश को विशेषण हमने सार्थक दिखाया पहले सुख विशेषण आकाश का क्यों लगे भौतिक आकाश से आकाश में निवृत्ति करना है आकाश को और आकाश विशेषण क्यों बनाया भौतिक सुख से अलग करना है जिसके लिए यही है सुखाकाशाभ्याम व्यावृत्ति निष्ठा एक चाहना भाषण में कहा हमने पहले बता दिया है बात कहा व्यावृत्ति के लिए कहा ठीक है कहते तथा च सुख से लौकिक सुखा व्यावृत्ति अर्थम सुख कैसा है लौकिक सुख से व्यावृत्ति के लिए आप सुख का विशेषण बनाए कि इसको खाओ कैसा सुख लेना व्यापक सुख लेना यह अर्थ आप ये कहा तथा चाहे तथा चाह सुख से लौकिक सुख व्यावृत्ति अर्थम यदेव खम यदि विशेषण यदेव खम तदेव कम करके जो विशेषण दिया था हमने यदेव खम करके कहा था जो सुख को लौकिक सुख है व्यावृत्ति करने खम विशेषण लगाए व्यापक सुख लेना है और आकाश से और आकाश का विशेषण कम को लगाया हुआ है हम माने आकाश आकाश कैसे लेना कम आकाश से जो लौकिका साथ व्यावृत्ति अर्थ आकाश भौतिक आकाश से व्यावृत्ति करने के लिए यदवावकम इति विशेषण यदवावकम तदेवकम विशेष कम विशेषण लगाया यदि अर्थवत विशेष है अर्थवत ये दोनों विशेषण अर्थशाली है केवल एक को पृथक करना नहीं दोनों को पृथक करना है सुख भी आत्म सुख में भी सुख शब्द का प्रयोग है भौतिक सुख में भी सुख शब्द का प्रयोग है तो भौतिक सुख से निवृत्ति करने के लिए वहां खम विशेषण चला दिया और आकाश आत्मा को भी आकाश शब्द से आता है तो भौतिक आकाश भी आकाश में आता है तो उस आत्मा आकाश को पृथक करने के लिए कम विशेषण लगाया दोनों विशेषण सार्थक है ये सिद्धांत बोल रहे हैं ठीक है अन्य तरफ विशेषण साथ अभी यथोक्त व्यावृत्ति सिद्धेर अकीलित कर्म विशेषण दो संगत है वहां पूर्वादि एक और शंका उठाता है दो में से कोई एक विशेषण से ये दोनों से व्यावृत्ति हो जाती है अन्यतर विशेषण साथ दो में से कोई भी कम को विशेषण बनाओ चाहे खम को बनाओ दो में से कोई को अन्यतर बोलते हैं अन्यतर में आना है मानी किसी को भी ला सकते दो वस्तु है अन्यतर में आना है दोनों में से किसी को भी लाओ अन्यतर शब्द का अर्थ दो में से कोई एक होता है अन्यतम माने बहुतों में से कोई एक ऐसा होता है तो अन्यतर विशेषण साधन नहीं दो विशेषण दो में से कोई एक विशेषण से उनके साथ उनसे यथोक्त व्यावृत्ति इसकी दोनों की व्यावृत्ति सिद्धि हो जाती पूर्वादि बोलता है भूताकाश से भी व्यावृत्ति हो जाएगी क्षणिक सुख से भी व्यावृत्ति हो जाएगी दोनों में से कोई एक विशेषण चलाने पर सिद्धेद अकिंचित कर्म विशेषण दोनों विशेषण तो व्यर्थ है एक ही विशेषण काम करेगा दो दो क्यों देना ये पूर्ववादी की शंका दोबारा है कैसे शंका है तो वास्तव में कहा सुखे न आकाशे विशेष के जब सुख विशेषण कर दिया कैसा आकाश ना सुख विशिष्ट आकाश लेना बोल दिया आकाश का विशेषण जब सुख लगा दिया यदेवकम तदेवकम ऐसा सुखे न आकाश विशेष व्यावृत्ति उभय और प्राप्त आए वह तो क्या होगा सुखरूप आकाश तो वही हो जाएगा भौतिक आकाश हो नहीं सकता है अब सुख जब विशेषण आकाश का बना है तो लौकिक सुख भी नहीं होगा वो आकाश का विशेषण बनने वाला सुख आत्मसुख ही होगा व्यावृत्ति दोनों हो जाएगी ये पूर्वादी की शंका है सुख है ना आकाश है विशेषित है जब सुख के द्वारा आकाश विशिष्ट बना दिया गया उस स्थिति में व्यावृत्ति वही और अर्थवार्ता दोनों विशेषणों की व्यावृत्ति दोनों भूताकाश के और क्षणिक सुख की व्यावृत्ति इच्छा है अर्थ से प्राप्त है इति चेत ऐसा पूर्वादि शंका करे तो सिद्धांत करे सत्यम एवं ठीक है आपका कहना किंतु ठीक है आपका सोच ठीक है एक ही विशेष में काम चल सकता बोल रहे किंतु किंतु सुखे न विशेष तस्वीर आकाश से ध्येय तो भेद इस स्थिति में क्या होगा सुख विशिष्ट आकाश ही ध्येय होगा सिद्ध होगा उपास्य आकाशी होगा सिद्ध होगा सुख उपास्य होगा सिद्ध नहीं हो पाएगा विशेषण उपास्य विशेष से उपास्य सिद्ध हो जाए सुख विशिष्ट आकाशी उपास्य सिद्ध होगा सुख उपास्य सिद्ध नहीं होगा ये रहे सिद्धांत कह रहे हैं किंतु सुखे न विशेषित आकाश से देते सुख विशिष्ट जो आकाश होगा सुख को जो विशेषण लगा दिया तो वो आकाश जब लीलोत्पलन आने कहेंगे तो क्या लाएंगे उत्पल को लाना होता है इस तरह विशेषित से आकाश से विशेषत्व विहितम न तो आकाश से गुण से विशेषण से सुख से धेयत्व विहितम से आकाश का जो गौण बना आकाश में जो गुण बने विशेषण है वो आकाश का गुण माने गौण बना हुआ जो विशेषण गौण होता है विशेष से मुख्य होता है तो आकाश का गुण जो विशेषण है विशेषण से सुख से सुख में धेयत्व न विहितम से आप उसका विधान नहीं हो पाएगा सुख का उपासना नहीं हो पाएगी केवल सुख की उपासना नहीं होगी केवल आकाश की उपासना होगी ऐसा करने पर यह सिद्धांत ने कहा विशेषण उपादान से विशेष नियंत्रित न बक्षेगा पूर्वादि संज्ञा करेगा महाराज जब विशेष्य की उपासना होगी तो विशेषण की उपासना होगी होगी क्योंकि जब नीलोत्पलम आना है कोई बोलता हो तो जब उत्पल को लाएगा तो नील भी आएगा इसी प्रकार जब सुख विशिष्ट आकाश उपास्य होगा तो सुख भी उपास्य होगा जब विशेष विशेष से उपास्य हो गया तो विशेषण भी उपास्य होगा ये पूर्वादि शंका करता है केंद्र सिद्धांत बोलते नहीं विशेषण उपादान से विशेषण का जो ग्रहण किया जाता है ना उसका विशेष नियंत्रित क्यों उपक्षया विशेषण का ग्रहण जो होता है विशेष्य को नियंत्रण करके उसके कार्य समाप्त हो जाता है विशेष को अलग कर दिया अन्य से बस उसका काम समाप्त हो गया वो उपास्य में काम नहीं आएगा ये स्थिति आ जाएगी जो विशेषण विशेष्य के नियंत्रित रूप से विशेषण ग्रहण होता है विशेषण जो ग्रहण किया जाता है किसके लिए विशेष को नियंत्रण करने के लिए जैसे नील विशेषण लगाया जाता है किसके लिए अन्य उत्पल की अपेक्षा एक को पृथक करने के लिए इतने से उसका काम हो गया आगे उपास्य होना कोई जरूरी नहीं उसका ये कहना चाहते सिद्धांत विशेषण उपादान से विशेषण का जो ग्रहण है वहां विशेष नियंत्रित है ना विशेष का नियंता बनता है इतना काम करता है विशेष का नियंत्रण करेगा अन्य से पृथक करके छोड़ देगा विशेषण इतना काम करेगा बाकी आगे का उसका काम आगे नहीं ये सिद्ध होता है उपक्ष उसका काम हो गया से इसलिए जब सुख विशिष्ट आकाश सुख ही विशेषण लगाएंगे एक ही विशेषण लगाए आकाश आकाश का सुख तो सुख विशिष्ट आकाश उपास्य होगा सुख उपास्य नहीं बन पाएगा इसलिए क्या करना पड़ेगा सुख को भी उपासना करनी है वहां इसलिए क्या करना आकाश विशेष सुख भी होगा इसलिए दोनों विशेषण लगाना पड़ेगा सिद्धांत के अनुसार अतः खेन सुखम अभी विशेष हाँ। ख के द्वारा सुख को भी विशिष्ट बनाया जाता है क्यों उसको उपास्य है यहाँ या क भी उपास्य है ख भी उपास्य है कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ है दोनों उपास्य है यहाँ इसलिए दोनों विशेषण बनाना पड़ेगा सिद्धांत कुतश्च से तो निश्चित है इस हेतु से भी देखो यह निश्चय किया जाता है क्या कम शब्द से अभी ब्रह्म शब्द संबंधात्मकम ब्रह्म थी कहते कम शब्द को भी ब्रह्म के साथ संबंध करना है नहीं तो क्या होगा कम को केवल ख का विशेष खम का विशेषण बनाएंगे तो कम का संबंध हो जाएगा कम के साथ और खम का संबंध होगा ब्रह्म के साथ कम का संबंध नहीं हो पाएगा या बोला हुआ वाक्य में क्या है कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा बोला कम का भी ब्रह्म के साथ संबंध करना है खम का भी ब्रह्म के साथ संबंध करना है नहीं तो परंपरा संबंध हो जाएगा कम का केवल विशेषण बना के छोड़ देंगे विशेष नहीं बनाएंगे तो कम का संबंध ब्रह्म के साथ नहीं हो पाएगा किसके साथ खम के साथ और वो खम का होगा संबंध ब्रह्म के साथ खम ब्रह्म कम खम ब्रह्म ऐसा होगा क्या होगा ऐसा बनेगा किंतु मंत्र में क्या है कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ है कम शब्द से अभी ब्रह्म शब्द संबंधा कम का भी ब्रह्म के साथ संबंध है मंत्र में कम ब्रह्म ऐसा बोला हुआ है यह नहीं कि कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं बोला मंत्र में कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा बोला हुआ है कम शब्द से अभी ब्रह्म शब्द संबंधा कम ब्रह्म ऐसा कहा ऐसा बताया अच्छा। आगे और है यदि ही सुख गुण विशिष्ट से खस्य देयत्व यदि इतना ही होता केवल आकाश ध्येय होता उपास्य होता देय मैंने उपास्य यदि सुख गुण विशिष्ट से सुख जिसमें मैंने गुण बना हुआ है मैंने विशेषण बना हुआ है सुख गुण विशिष्ट से खस्य ध्येयत्व विवक्षित ऐसा विवक्षित होता केवल आकाशी उपास्य होता ब्रह्म रूप से हाँ, कि कम नहीं होता उपास्य नहीं होता उस स्थिति में क्या बोला था कम खम ब्रह्म यदि ब्रूही अग्नि को कहना चाहिए क्या कहना चाहिए था कम खम ब्रह्म बोलना चाहिए था कम को विशेषण बनाना और ख को विशेष बनाना हो तो कम खम ब्रह्म बोलना चाहिए था किंतु श्रुतियां ये बोल अग्नि ये बोलना चाहते हैं कम को भी ब्रह्म बोल रही है कम ब्रह्म कम खम ब्रह्म बोल रही है कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं बोला अग्नि ने कहा कम खम ब्रह्म ब्रूही अग्नि प्रथम पहले ऐसा बोलना चाहिए था कम खम ब्रह्म बोलना चाहिए था श्रुति ने या ये अग्नियों ने नहीं कहा न तो एवं उक्तवंत अग्नियों ने ऐसा नहीं कहा कम खम ब्रह्म नहीं बोला अग्नियों ने तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला है माने जैसे खम उपास्य है उस पर कम ही उपास्य है इसलिए दोनों को विशेषण बनाना पड़ेगा खम विशिष्ट कम उपास्य और कम विशिष्ट कम उपास्य ऐसा बनाना है इसलिए दोनों साथ में कह रहा किम तभी प्रश्न आया फिर क्या कहा तो अग्नियों ने कहा हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा कहा दोनों को उपास्य रूप से कहा हुआ है कम को भी ब्रह्म कहा खम को भी ब्रह्म कहा अग्नियों तो ने शब्द बोला हो कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा बोला हुआ है न कि कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं बोला अतो ब्रह्मचारिणों मोह अपनाना आया कम खम शब्द और इतर इतर विशेष और विशेष निर्देश युक्त यदावकम इत्यादि इसलिए ब्रह्मचारी में जो अज्ञान हुआ है अज्ञान है कि सुख शब्द से भूता का भौतिक सुख को ग्रहण करना हो रहा है और खम शब्द से भौतिक आकाश ग्रहण हो रहा है ये गोह है ब्रह्मचारी का ज्ञान है ये हटाने के लिए कम खम शब्द ये दोनों शब्दों में कम शब्द खम शब्द दोनों में दोनों का इतर इतर विशेषण विशेषत्व तो निर्देश श्रुति ने कहा दोनों को विशेषण दोनों को विशेष कहा कम का विशेषण खम खम का विशेषण कम ऐसा दोनों को विशेषण बनाया दोनों का विशेष बनाया श्रुति ने निर्देश युक्त यदवावकम इत्यादि यदवावकम तदेवकम यदेवकम तदेवकम श्रुति ने ऐसा बोला है ये कहा टीका से देखिए यदा सुखे न आकाशम विशिष्यते जब सुख विशेषण लगा करके आकाश पृथक किया जाता है यदावकम तदेवकम ऐसा बोला जाएगा यदा सुखे न आकाशम विशेषित जब सुख विशेषण लगा करके कम को विशेषण बना करके आकाश को विशेष बनाया जाता है तदा भूताकाश भूताकाशात आकाशम व्यावर्तित होती भूताकाश से आकाश व्यावृत्ति हो गया क्यों सुख विशिष्ट आकाश लेना है कैसे आकाश लेना सुख विशिष्ट तो भूताकाश से अलग हो जाएगा वो व्यावर्तित भवती व्यावर्तितम भवती सुख से तद विशेषण तो आयोगा सुख जो है उसका विशेषण नहीं हो सकता किसका तद माने भूताकाश से तस् विशेषण तो तद विशेषण तो भूताकाश का विशेषण सुख नहीं हो सकता जब सुख विशेषण लग गया तो वो आकाश जो होगा भूताकाश नहीं हो सकता क्यों उसका सुख विशेषण नहीं हो सकता ये कह रहे सुख से तद विशेषण तो आएगा सुख जो होगा तद माने भूताकाश से विशेषण तो आएगा भूताकाश का विशेषण नहीं हो सकता सुख आएगा सुखम अपनी और सुख भी कैसा सुख आएगा जब आकाश का विशेषण बन रहा है सुख तो सुख कैसा आएगा लौकिक सुखाद्य में छित लौकिक सुख से अलग हो जाएगा वो लौकिक सुख व्यापक नहीं होता क्यों जिसका विशेषण बना हुआ वस्तु व्यापक है आकाश व्यापक है लौकिक सुख व्यापक नहीं होता परिचिन्न होता है क्षणिक होता है सुखम अपनी लौकिक स्वता व्यवचित लौकिक सुख से आकाश विशेषण और होता लौकिक सुख जो होगा क्षणिक सुख विषय और इंद्रिय जन्य जो सुख ये सुख आकाश का विशेषण हो नहीं सकता लौकिक सुख हो जो होगा व्यापक जो आकाश उसका विशेषण हो नहीं सकता जो विराम दिया काट देना चाहिए सुखम अपनी लौकिक सुख व्यवचित लौकिक सुख से आकाश विशेषण तो अनुपत्ति आगे वाक्य के साथ संबंध है उसका लौकिक सुख का हाँ। लौकिक सुख जो है आकाश का विशेषण हो नहीं सकता आकाश का विशेषण जब सुख हो गया तो वो लौकिक सुख नहीं है सिद्ध हो गया दोनों व्यावृत्ति हो गई इसलिए अतः सुखे न आकाश से आकाश न सुख से व विशेषित सामर्थ्या प्राप्त एवं सुखाकाश और लौकिक सुखाकाशाभ्यम व्यावृत्ति अन्य तरदो विशेषण अर्थवत इत्यर्थ पूर्वादि की यही शंका थी जब सुख को विशेषण बना दिया आकाश को विशेष बना दिया तो आकाश भौतिक आकाश से अलग हो ही गया सुख विशिष्ट आकाश भौतिक नहीं हो सकता सुख भी जो आकाश का विशेषण जब बन रहा है सुख व्यापक का तो परिचय में सुख हो नहीं सकता तो एक ही विशेषण से काम चल जाता है दोनों का विशेषण क्यों करना एक विशेषण व्यर्थ हो रहा है ये पूर्वाधिक शंका में है ये ठीक है अतः न आकाश से आकाशे से सुखस्य दो विशेषण विशेष बना रहे हैं आप सुख के द्वारा आकाश को अलग करना चाहते हैं आकाश के द्वारा सुख को अलग करना चाहते हैं विशेष तत्व सामर्थ्य ये सामर्थ्य से प्राप्त है प्राप्त है क्या सुखाकाश लौकिक सुखाभ्याम व्यावृत्ति ये प्राप्त क्या है सुख और आकाश के दोनों में लौकिक सुख और आकाश से व्यावृत्ति प्राप्त है अन्य तरह विशेषण अर्थवत इसलिए दो में से किसी एक विशेषण अर्थशाली हो जाता है पूर्वादि का शंका है सिद्धांति कहते हैं किम अन्यतर से विशेषण से व्यावर्तक तुम क्या दो में से एक ही विशेषण व्यावर्तक है दूसरे दूसरे विशेषण व्यावर्तक नहीं हो सकता माने सुख विशेषण ही व्यावर्तक होगा आकाश विशेषण व्यावर्तक नहीं होगा ये कहना है क्यों अन्यतर से भी विशेषण से व्यावर्तक तुम आप देते तुम्हारे द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता है क्या दो में से एक ही विशेषण व्यावर्तक होगा ऐसा कहना चाहे हुए किम्बा तस्व अर्थवत्व वही अर्थशाली है दो में से एक ही विशेषण अर्थशाली ऐसा कहना चाहते हो एक सिद्धांति प्रश्न उठा तथा आद्यम अंगीकर होती है पहले वाला तो ठीक है दो में से एक विशेषण से काम चल सकता है व्यावर्तक है दो में अन्यथा दोनों में से कोई भी विशेषण हो व्यावर्तक है चाहे सुख हो चाहे आकाश हो ये तो ठीक है इसे कहा सत्यम एवं ऐसा सिद्धांत ठीक है आपका कहना व्यावर्तक है दोनों चाहे सुख विशेषण लगाओ चाहे खम को विशेषण करो व्यावर्त का ये सिद्ध है ठीक है किंतु द्वितीय दूसरे दूसरा ही थी किंतु ये दूसरा जो पक्ष था क्या तस्व अर्थवत्व एक ही विशेषण अर्थशाली है दूसरा नहीं है ये जो कहना ये गलत है हाँ, दोनों अर्थशाली है ये नहीं कि एक ही एक प्रयोजन वाला है दूसरा प्रयोजन नहीं है बात नहीं ये दूसरा पक्ष खंडन करते सिद्धांत कहा किंतु इत्यादि कहा किंतु सुखे न विशेषित आकाश से नहीं तुम जब एक ही विशेषण लगाएंगे तो सुख विशेष आकाश भी उपास्य होगा न तो आकाश गुण से विशेषण से सुख से देहत्व आकाश का जो गुण बना हुआ विशेषण बना हुआ सुख उसमें उपास्य तो नहीं आएगा विहित नहीं हो पाएगा क्यों तो आगे बताएंगे ठीक है देखें विशिष्ट से वे ध्येय होती जो विशिष्ट होगा वही ध्येय होता है इसमें दृष्टांत देते हैं विशेषण ध्येय नहीं होता विशेषण से जो विशिष्ट हो गया वही ध्येय होगा हाँ, जैसे कुंडली की पूजा की जाती है कुंडल की नहीं कुंडल पहन के आया हुआ व्यक्ति है देवदत्ता जब पूजा करेंगे तो किसकी करेंगे व्यक्ति की पूजा करेंगे कुंडल की नहीं करेंगे विशेषण की पूजा नहीं होती है कुंडल विशिष्ट है कुंडली तो विशेषण उपास्य नहीं बन पाएगा यह आपत्ति आएगी यहां दोनों उपास्य है क्यों कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ दोनों को ब्रह्म शब्द से कहा हुआ है ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं विशिष्ट से विधेयत्व विशेषण से विधेय तुम सिद्ध दीजिए पूर्वादि कहेगा जो विशिष्ट ध्येय हो गया सुख विशिष्ट आकाश ध्येय हो गया विशेषण भी ध्येय हो गया उपास्य हो गया ऐसा पूर्ववादी कहेगा कि जब विशिष्ट की पूजा हो गई तो विशेषण की हो गई जब किसी व्यक्ति की पूजा हो गई तो काला व्यक्ति होगा तो काला का भी पूजा हो गया हो जाता है ऐसा पूर्वादी कहे तो सिद्धांत बोलते हैं विजय नैव ऐसा नहीं हो सकता दंडी परेशान अन्वाह ऐसा कहीं वेद में मंत्र आया दंडधारी को दंडी बोलते हैं तो वो बोलने वाला कौन है दंड बोलता है या व्यक्ति बोलता है दंड वाला व्यक्ति जो होगा बोलेगा दंडी परेशान अनवाह माने वृत्ति जो को कुछ बोलता है वो दंडी बोलता है माने व्यक्ति बोलेगा तो यहां पर विधिवत विशेषण से अन्यथा सिद्धत्व विशेषण जो है ना केवल अपने विशेष्य को पृथक करने में तात्पर्य रखता है आगे के साथ संबंध नहीं होता विशेषण का जो अपना विशेष्य होगा उसको अन्य से अतिरिक्त कर देने में पृथक करने में उसका तात्पर्य होता है ये कहना चाहते हैं इसमें विशेषण से नियंत्रित विशेषण से ग्रहण ये कहना चाहते हैं विशेष जो होता है विशेष का नियंता रूप से विशेषण ग्रहण किया जाता है विशेषण तब ग्रहण होगा किसके लिए विशेष को नियंत्रण करने के लिए अन्य से पृथक करने के लिए इतने हो जाता है और कुछ नहीं होता उपासना इसी की उपासना में उसमें उपासना में उसमें अन्यथा सिद्धत्व है उसकी आवश्यकता नहीं है विशेषण की ये सिद्धांत कहना चाहते हैं उपासना विशेष्य की होगी विशेषण की नहीं होगी विशेषण तो इतना ही है अपने विशेष्य को अलग करके उसका काम हो गया जो उपासना करेंगे तो विशेष्य की होगी स्थिति है ये कहना था अन्यथा सिद्धत्व विशेषण इत्यादि भाषण का आदेश को विशेषण उपादान से जो विशेषण का ग्रहण किया जाता है विशेषण लगाया जाता है किसके लिए होता है विशेष नियंत्रित अपेक्षा अपने विशेष्य को नियंत्रण के द्वारा उसके कार्य समाप्त हो जाता है विशेषण का आगे के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा जब एक ही विशेषण बनाओगे तो सुख विशिष्ट आकाश ही उपास्य होगा सुख उपास्य नहीं हो पाएगा क्योंकि श्रुति में कहा हुआ कम ब्रह्म खम ब्रह्म दोनों को उपास्य बताया कम को भी खम को भी इसलिए दोनों को विशेषण विशेष दोनों को बनाना पड़ेगा इस सिद्धांत का अनुसार है अगर का द्वयोर भी विशेषण और अर्थवत्व नहीं हुए दोनों विशेषण अर्थशाली है दोनों विशेषण कम को भी विशेषण बनाना पड़ेगा खम का खम को विशेषण बनाना पड़ेगा कम का कम को भी विशेषण खम को भी विशेषण दोनों विशेषण दोनों विशेष ऐसा बनाना पड़ेगा ये समापन करते अतः इत्यादि का अतः खेल सुखम को भी विशेष यही क के द्वारा ख अलग किया जाए गया उसी प्रकार ख के द्वारा भी क को अलग किया जाता है ध्येयत्वाय किसके लिए उपास्यत्वाय उपासना के लिए यहाँ दोनों उपास्य है कम भी उपास्य खम भी उपास्य क्यों दोनों को ब्रह्म कहा हुआ है कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहते हैं आगे विधान तरेण ध्येयत्व असंभवाद अथ शब्दार्थ अतः अन्य प्रकार से धैर्य नहीं हो पाएगा अतः अतः खेन सुखों की विशेष थे देहत्वाय में अन्य प्रकार से नहीं दोनों को विशेषण बनाए बिना दोनों ध्येय नहीं हो पाएंगे अन्य प्रकार से उपासना हो नहीं पाएगी दोनों को विशेषण दोनों को विशेष बनाने पर ही काम चलेगा याद शब्द का अर्थ है विधानतर मन प्रकारांतर अन्य प्रकार से तो असंभव उपास्य तो संभव नहीं है यही यही प्रकार है दोनों को विशेषण बनाओ दोनों को विशेष बनाओ अतः शब्दार्थ का खम इव सुखे न इति अपे अर्थ भाष्य में जो अपी दिया हाँ, सुखम अपी खेर सुखम अपी तो अपी का अर्थ क्या लेना है तो कहते हैं खम इव सुखेन जैसे खम के समान सुख के द्वारा जैसे सुख से ख को अलग किया था इसी प्रकार ख से सुख को अलग कर पहले ये मान न इत्यादि न आकाशे विशेषित इत्यादि कहा था उस प्रकार से जैसे सुख विशेषण बनाया था उसे ख विशेषण बनाना भी <coughs> अपी का अर्थ है आगे टीका में कहते हैं इतस सुखाकाशयो इतर विशेषण विशेषत्व ये शितव्यम इत्याह इस हेतु से भी आगे हेतु देना चाहते हैं इस तर्क से भी सुख और आकाश दोनों में माने कम और कम दोनों में इतर इतर विशेषण विशेषत्व दोनों के दोनों में विशेषण भी बनाना विशेष भी बनाना होगा ये स्वीकार करना होगा कुतश्च इत्यादि का कुतश्च ये तद निश्चित कुतश्च प्रश्न है तो ये निश्चित निश्चय होगा ये क्या निश्चय होगा आगे दिखाते हैं टीका में कहते हैं कुत शब्द उपातम इत शब्दार्थम स्फुट आएगी पहले टीका में जो इत कहा था इत से काश कहा था या कुत शब्द के द्वारा गृहित हुआ जो इत शब्द है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं कम भाष्य में कहा कम शब्द से अभी ब्रह्म शब्द संबंध कम भी उपास्य है क्यों उसका भी ब्रह्म शब्द के साथ संबंध है कम ब्रह्म ऐसा बोला है स्मृति ने कम ब्रह्म खम ब्रह्म खाली खम ब्रह्म नहीं बोला है खा की उपासना नहीं बोली कम की भी बोला है कम शब्द से ब्रह्म शब्द संबंधात कम ब्रह्म कम शब्द का भी ब्रह्म के साथ संबंध किया है स्मृति में कम ब्रह्म ऐसा कहा है इसलिए कम भी उपास्य है खाली कम नहीं इसलिए दोनों को विशेष बनाना पड़ेगा कम को भी विशेष बनाना पड़ेगा ख को विशेष तभी कम उपास्य होगा और ख को विशेष बनाना पड़ेगा उपासना के लिए खम ब्रह्म बना हुआ ठीक है खम ब्रह्म यदि खम शब्द से ब्रह्म शब्द संबंधवत इति अपर्थ जैसे खम ब्रह्म में खम शब्द को ब्रह्म शब्द के साथ संबंध है उसी प्रकार कम ब्रह्म शब्द में कम शब्द का भी ब्रह्म शब्द का संबंध है यह अपिशे सिद्ध होगा ये कहा ठीक है गुण गुणिनो गुण गुणिनोर वयोर भी ध्येयत्व सिद्ध गुण और गुणी दोनों ध्येय है यहाँ दोनों उपास्य है मान विशेषण विशेष दोनों उपास्य है सिद्धार्थम इतर इतर विशेषण विशेषत्व एक दूसरे का विशेषण एक दूसरे का विशेष बनाया गया विशेषत्व कम शब्द से खम शब्द से प्रत्येकम ब्रह्म शब्द संबंधात भी कम शब्द खम शब्द में प्रत्येक के साथ दोनों के साथ में ब्रह्म शब्द का संबंध होने पर भी संबंध से भी सिद्ध होता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला गया संबंधात स्वीकर्तव्यम ये दोनों दोनों उपास्य है इसे स्वीकार करना चाहिए क्यों दोनों के साथ में ब्रह्म शब्द लगा हुआ कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ उत्तम ये जो कहा था व्यतिरिक के द्वारा साधक व्यतिरिक के द्वारा मानी की दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं यदि ही इत्यादि भाषण का यदि ही सुख गुण विशिष्ट खस्य ध्येयत्व विवक्षित केवल एक ही आकाशी यहाँ उपास्य से यदि विवक्षित होता हाँ, यदि सुख गुण विशिष्ट मतलब सुख विशेषण कम ब्रह्म कम खम ब्रह्म बोलना चाहिए था उस स्थिति में केवल माने कम को विशेषण बना करके खम को विशेष बनाना इतना अभिष्ट होता तो क्या होना चाहिए था विवक्षितम से कम खम जब कम खम ब्रह्म इति ब्रुयो अग्नय अग्नियों को कहना चाहिए था कम खम ब्रह्म बोलना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं बोला अग्नियों ने क्या बोला कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला हुआ प्रथम ऐसा बोलना चाहिए न तो एक उक्तवंत अग्निया ऐसी नहीं बोली किम तरी फिर क्या बोली तो कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म अतो ब्रह्मचारी को गोह अपनाना है ब्रह्मचारी को अज्ञान है इस विषय में कम सा तू खम सा न जाना भी बोल रहा है न भी जाना भी कह रहा है कम खम को नहीं जानता बोल रहा है वो अज्ञान हटाने के लिए कम खम शब्द और इतर इतर विशेष विशेषत्व निर्देश हो युक्त एवं यदभावकम इत्यादि कम खम शब्द दोनों के दोनों एक दूसरे का विशेषण एक दूसरे का विशेष हम्म, रूप से निर्देश है ये कहना ठीक है क्यों यदभावकम तदेवकम यदेवकम तदेवकम जो कहा ठीक है ठीक है टीका में देखें उक्त रीत्या द्वयोरपी ध्येयत्व अथार्थ अतो ब्रह्मचारी जो अताया या तो शब्द का अर्थ ये तरीके से दोनों के दोनों उपास्य है ध्येय माने उपास्य है कम भी उपास्य है खम भी उपास्य है ब्रह्म के साथ दोनों का संबंध है ब्रह्मचारी लोग मोह क्या ये उपकोष मोह क्या हो गया मोह माने क्या यहाँ ब्रह्मचारी के मोह हटाने के लिए कहा ब्रह्मचारी को कौन सा मोह हुआ यहाँ कहते हैं ब्रह्मचारी मोह नाम ये मोह क्या है अन्य विशेषण विशेषत्व अग्रहणा एक दूसरे इसलिए गया एक दूसरे का विशेषण विशेष से बनाता तब तो भौतिक सुख में भी भौतिक आकाश में भी उसकी दृष्टि नहीं जाती सुख कैसा लेना व्यापक ऐसा यदि ज्ञान होता ब्रह्मचारी को अथवा आकाश कैसा लेना सुख विशिष्ट ऐसा ज्ञान होता तो भौतिक सुख भौतिक आकाश में उसकी दृष्टि ही पड़ती वहां दृष्टि पड़ रही है उसकी ये कैसे ब्रह्म हो सकता है भौतिक आकाश भौतिक सुख ये वो है उसका ये कहा ब्रह्मचारियों हो नाम ब्रह्मचारी को क्या मोह हुआ उपकर्षण वे मोह है अन्योन्य विशेषण तो ग्रहण एक दूसरे को विशेषण विशेष नहीं बना सका वो ग्रहण नहीं हुआ उसको इसलिए मोह हो गया आकाश से गुणों में ध्येयत्व उसके विचार में है कि आकाश वो गुणी है गुण वाला नहीं विशेषण नहीं विशेष गुणी वही देवी उपास्य ही सिद्ध न तो सुख से गुण से विभ्रम सुख नहीं है विशेषण उपास्य नहीं है ऐसा भ्रम हो गया ब्रह्मचारी जो मोह ऐसा वो हटाने के लिए अग्नियों ने कहा दोनों को विशेषण दोनों को विशेष बनाया ये कहा आगे टीका भी कहते हैं प्राणम च इत्यादि वाक्यम नाग्नि नाम न ब्रह्मचारी प्राणम च तदाश्रय च क्या था मंत्र प्राणम च प्राणम च हस्मय तद आकाशम चौथी इस ब्रह्म ने कहा ये प्राण और उसका आकाश को कहा ऐसा स्मृति में इस ये प्राणों से इत्यादि वाक्य न अग्नि नाम न ये उपकोशल का भी नहीं है वाक्य अग्नियों का भी नहीं है स्मृति बोलती हम लोगों के लिए क्या कहा होगा ब्रह्मचारी के लिए अग्नियों ने प्राण को उपदेश किया और उसका आश्रय का उपदेश किया यही है अंदर आकाश मैंने आश्रय प्राण का आश्रय मैंने आकाश यही दो का उपदेश हुआ है ये श्रुति का वचन है ये ब्रह्मचारी का वचन भी नहीं है अग्नि का वचन भी नहीं है प्राणम तद आकाशम से चोचू ये जो कहा ये अग्नि का भी वचन नहीं प्राणम इत्यादि वाक्यम ये जो प्राणम च तद आकाशम इत्यादि वाक्य है नागरी नाम अग्नियों का नहीं है वाक्य न ब्रह्मचारी न ब्रह्मचारी का भी नहीं उपकोशल का भी नहीं वाक्य तथा च कथम उपाख्यायिकायाम इदम निर्वहती आशय फिर ये या कहानी में ये वाक्य का निर्वहन कैसे होगा ये ब्रह्मचारी भी नहीं बोल रहा अग्निया भी नहीं बोल रही ये वाक्य कौन बोलेगा ये शंका आगे कहा तदे तत् इत्यादि कहा आशंका इसका उत्तर देते देते हैं तदे तत् अग्निभ्र उत्तम वाक्यार्थम अस्मदबोधाय स्तुति आय स्तुति का वाक्य है ये ब्रह्मचारी का नहीं अग्नि का भी नहीं कहानी चल रही थी श्रुति बोल रही है दोनों से हट करके तदे तद अग्निवीर उत्तम अग्नियों ने जो कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म जो कहा था यही तो था ना अग्नियों ने कहा प्राण प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म यही अग्नियों का वाक्य यह अग्नियों ने कहा हुआ वाक्यार्थ का हम अस्मत बोध आया हमारे लिए जो ज्ञान कराने के लिए श्रुति कहती है क्या बोलती है च अस्मय ने इस ब्रह्मचारी के लिए प्राण और तद आकाशम से चोचुहू प्राण और आकाश को कहा अग्नियों ने ऐसा कहा ऐसा श्रुति हमारे लिए सुना रही है ये कहा एक नंबर टिप्पणी है तदेतम कहते तदेतम होना चाहिए आगे वाक्यार्थम ऐसा है हम्म, तदेतत् नपुंसक है तदेतम पुलिंग में है पुलिंग करके बोलना चाहिए तदेतत के स्थान में तदेतम बोलना चाहिए क्यों वाक्यार्थम आगे है ये टिप्पणी में दिया माने तदाकाश का अर्थ है तस्य आकाश तदाकाश उसका आकाश तस्य माने प्राणस्य प्राण और उसका आकाश तस्य आकाश तदाकाश तस्य आकाश तदा ष्ठी समास करना तदाकाश में कहा तत्पर से किस बोलेंगे प्राण को उसका जो आकाश है प्राण का आकाश प्राण का आश्रय आकाश इसी को कहा आपसे जो है कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम एक तो प्राण को कहा और उसका आश्रय आकाश कम ब्रह्म खम ब्रह्म शब्द से हार्द आकाश को बताया ये अर्थ आया एक प्राण से संबंधी आश्रय क्यों ने हार्दाकाश इत्यर्थ प्राण के संबंधी रूप से कहा हुआ है यहाँ प्राण तो तदा आकाश कहा तो प्राण के संबंधी आकाश संबंधी जो आश्रय होने से अन्य आकाश ने हार्दाकाश को ही कहा हृदय के भीतर जो आकाश है हार्दाकाश ब्रह्म उसी को कहा यह अर्थ आएगा सुख सुख गुणवत्व निर्देशात तम च आकाशम विष्टम ब्रह्म और सुख गुण लगाया है आकाश कैसे लेना हाँ, कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा है कम को विशेषण बनाया खम को विशेष बनाया आकाश कम विशेषण लग जाने से सुख गुणवत्त निर्देशा सुख सुख गुणवान ऐसा कहा आकाश को कम ब्रह्म कहा हुआ है खम ब्रह्म कहा तम चाह आकाश को उस आकाश को सुख गुण विशिष्टम सुख गुण से विशिष्ट आकाश लेना है वो कौन का ब्रह्म ये ब्रह्म लेना होगा तस्थम च प्राण और उस ब्रह्म में रहने वाला जो प्राण यही का ब्रह्म संबंध का देव ब्रह्म वो जो ब्रह्म के साथ संबंध करने हार्दाकाश में संबंध करने वाला प्राण ब्रह्म के संबंध से ब्रह्म है वो प्राणो ब्रह्म में जो ब्रह्म है साक्षात ब्रह्म नहीं है ब्रह्म के साथ संबंध हार्दाकाश ब्रह्म है उसके साथ में इसका संबंध है प्राण का इसलिए ब्रह्म कहा परंपरा से ब्रह्म होता है कार्य ब्रह्म है प्राण मुख्य ब्रह्म नहीं है तस्तम प्राणम ब्रह्म प्राणम ब्रह्म संबंध आदि में ब्रह्म प्राण जो है सीधा ब्रह्म नहीं है ब्रह्म के साथ संबंध होने से ब्रह्म कहा उसको साक्षात ब्रह्म हार्दाकाश है उसके साथ इच्छा संबंध है प्राण वहां रहता है इसलिए इसको ब्रह्म कहा उभयम प्राणंत आकाश शब्द समुचित ब्रह्मणो उचूरा नया ये बोलती है अग्नियों ने कहा ये दोनों माने प्राण और हार्दाकाश आकाश समुचित समुच्चय करके ब्रह्मणो ब्रह्म का उपदेश किया श्रुति ने अग्नियों ने ऐसा श्रुति हमारे लिए कहती है कहा ठीक है आकाश से प्राण संबंधित्व कया विदया इति अपेक्षा माना आकाश का प्राण संबंधी तो कैसे होगा प्राण का संबंधी कैसे बनेगा आकाश से कहा तो आश्रय कहा प्राण का आश्रय हो आकाश इसलिए हम्म। इसे संबंधी प्राण संबंधी है कहा कार्य ब्रह्म उपासनम उपासनम समुचितम कारण ब्रह्म उपासनम उपसमुक्त इति शब्दार्थ भाष्य के अंतिम में इति दिया अग्नय उचूर अग्नय इति ये इति शब्द इसलिए दिया है कार्य ब्रह्म उपासना के समुचित जो कारण ब्रह्म उपासना है उसको उपसंहार करने के लिए कहा ये प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म ये ब्रह्म का उपदेश किया कार्य ब्रह्म प्राण और कारण ब्रह्म है कम खम करके जो कहा इति शब्द इसके लिए दिया कहा समय हो गया है यही रखते फिर करेगा ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो